Nesne स्त्रैणी पंसनी स्त्रैण पंस होता है अजादे तष्टा प्राप्त है गीत हो जाए नय स्नेह और ईक शक्ति अष्टी और ईक शाक्तिक होता है शक्ति प्रहर नमस्य शाक्तिक है गीत हो गया ऐसे शक्ति और शाक्ति की यष्टि भी इसी प्रकार शक्ति अष्टि दोनों शक्ति अष्टि और ईकक आध्यम करण ये करण होता है आठ्य सुभोग एक सूत्र होता है क्यों होता है नीचे दिया है टिप्पणी में आठ्य सुभोग स्थूल पलितन ज्ञान प्रिय से चीर से दिया है और तरुण तलुण दोनों अदंत अदात्यष्टा प्राप्त है किन्तु गीत से ए, नहीं वय से प्रथम से घी प्राप्त है तो इसमें घी से हो गया घी से हो गया केवल स्वर में भेद होगा त्रोरस चलोगा से उन्नादि सूत्र न उन्नत यौवन बची तरुण तरुण हो गया ये वैसे प्रथम से गीत आते हैं किंतु गीत से उनसे ये भी तंगी गीत है टिढ़ान जैसे से गीत है तो त्रोरस्य लोभ सूत्र में उन्नत यौवन वैवाचिन क्या अध्याय देखो ये तो वैसे प्रथम से प्राप्त है

तो इसका गौराधिगण में पाठ का प्रयोजन क्या रहा तरुण तलनी को हाँ, गौराधिगण पाठ होने से गीसिव हो जाएगा इसलिए गौराधिगण में पाठ किया है सिद्ध गौराधिवर्ष सिंह से होगा तो वैसे प्रथम गीत को बाध करके सिद्ध गौराधिवर्ष सिंह से हो जाता तो उसको बाध करने के लिए इसमें भारती को बनाया तो भारती को बनाया तो गौराधिगण गण पाठ फिर व्यर्थ हो गया तो गौराधिगण पाठ सामर्थ्या एक पक्ष में गीत भी होगा दिया तो घी से होने पर गीत होने से कोई बोलो स्वर में भेदे रूप बराबर बनेगा तो गौराधिगण पाठ रखा गीत से अंत भी प्रयोग होता है सिद्ध गौरादि गीत और यदि इसमें फिर वातिक नहीं रखें तो गीत को बात करें गीत हो जाएगा गीत को बात करने के लिए ये वातिक रखा और वार्तिक बात का यदि पूरा बात करते गौरादि गण पाठ व्यर्थ हो जाएगा तो गौराधिगण पाठ सामर्थ्या गीत भी होगा यश्च Yentat triangi psiat. में गार्ग्य सदे कर जैसे गोत्रापद गार्ग्यम यह प्रत्यय तो गीप होने के बाद यश चौकार का लोप होगा हलस तद्धित हल पर तद्धित यकार से उपधा भूत से लोप इति परे गार्ग्य शब्द से गर्ग से गोत्रापत्य स्त्री ये विग्रह है तो गर्गादेव में गार्ग्य बनता है गीत होने के बाद यशी चलोप होने के बाद गार्ग्य यह जो है हल पर गौ के बाद यह है तथित अकार से उपधाभूत जब अकार का लोप कर देंगे तो उपधा में कैसे रहेगा यसे से जो लोप करता है वो ही है उन्हीं के कान हलत तद्धित से जब लगाएंगे तो धर्म से उपधा में दिखेगा कौन सा यकार उपधा में रहेगा पर यसी से लोप हुआ तो लोप इति पर और कहीं यदि पहले हलत तद्धित से लगा दे उपधा में तो है तो पहले लगाएंगे तो पर निमित्त नहीं इति परे पर इत निमित्त नहीं करके ऐसा अकार के लोग पहले करके आभ्य होने के असिद्ध होता असिद्ध होने से उपधाभूत तो करके लोप किया गार्गी प्राचाम स्पित ये प्राचाम गण से विकल्प से एक प्रश्न स्प हो जाएगा तद्धित प्रत्यय ये स्पो वा सद्धित का सकार का सकार की संज्ञा सह प्रत्यय से और प्रकार को आयन आदेश किस तरह से तो आयन हो जाएगा अं, गार्ग्य अगर आयन गार्ग्य आयन हो जाएगा गार्ग्य आयन ऐसे जलोप हो जाएगा शीत गौरादिभ्य शीत होने से शीत गौरादि से घीच हो जाएगा सिद्धभ्यो घोरादिभ्य स्त्रियां गीत सियात हाँ, ये गीस होता है तो देश इसको गीस हो गया यसे चलो पर के गार्ग्यायनी बन जाएगा आयन है अटकुम सूत्र से नत्व हो जाएगा गार्ग्यायनी गार्ग्यायनी और गार्गी दोनों का अर्थ है कि नर्तक शिल्पिनी स्वर्ण सूत्र है नर्तक शब्द बनता है तो शीत होने के कारण स्त्रीलिंग में गीत हो जाएगा नर्तकी से चलो भगर के नर्तकी और गौरादि गौ गौरव शब्द है गौरादि गण पाठ गीत हो गया गौरी अनडुव शब्द है गौरादि गण पाठ है तो गीत होने के बाद आम अनडो एक वार्तिक है नीचे है आम अनडो स्त्रियाम आवाच्य विकल्प से आम होगा आम नहीं होगा तो अनडू अगर इंग्लिश अनडू ही और आम होगा तो अनडवाही हो जाएगा आम हो जाएगा ये आदेश अनडवाही जिसे अलग से सुलोक हो जाता है आकृति गण अयम गौरादि गण आकृति गण है वयसी प्रथमे प्रथमे वयसी प्रथम वयवाचिनो अदंता त्रियांगी सियात प्रथमे वयसी जो अदंत शब्द है उसमें गीत गीत हो जाएगा कुमार सतंगी तो पे हो गया ऐसे चलो हो कुमारी वर्तमान तो हलंग्या पर लोग हो जाता है दिगो हो वह अदंत की अनुभूति अदंता दिगोर गीप सियात तयानाम लोकानाम समाहार ये सम विग्रह है समास हो जाएगा तथिता उत्तर पद समाहार समाहार अर्थ में त्रिलोक बनेगा त्रिलोक बनने के बाद अकारांतर अकारांत तो उत्तर पद द्विगु स्त्रियामिष्ट ऐसे एक लिंगानुशासन है अकारांत तो उत्तर पद स्त्रीलिंग में होता है फिर दिगो से गीत हो जाए गीत हो जाएगा ऐसे चलोक हो जाएगा त्रिलोकी त्रिपुरा इस प्रकार त्रयाणाम फलानाम समाहार तो त्रिपुरा शब्द में भी दिगो से गीत प्राप्त है किंतु अजादि गण में पढ़ा गया अजादित्वा थे त्रिपला अजादि तस्टाप तो अजादि गण में पाठ सामर्थ्य से टाप हुआ त्रिपला त्रियन का भी इस प्रकार त्रयाणाम अनिका नाम समाहार त्रियनिका सेना सेना तीन से त्रियनिका समाहार दुगु है तो अकार अंतर उत्तर बुद्ध स्त्रीय है तो यहाँ भी गी प्राप्त दिगो से सूत्र से गी प्राप्त था किंतु आजादी पाठ होने से टाप हो गया त्रियनिका सेना वर्णा धनुदाता तोपधा तो न वर्णात एक पदे अनुदाता तो पदार्थ तो न तह न वर्णात अनुदाता तो पदार्थ तह न कितने पद हुआ वर्णाद अनुदाता तो पदार्थ तीनों पंचमी अंत है अगर तो न में तह न ष्टी अंत तकार को देश होगा वर्णवाची अनुदात वर्णवाची शब्द होगा अनुदात कैसे होगा पूरा शब्द ऐसे कहा था अनुदातांत अंत में अनुदात हो तो उपध त उपधा में इसका त उपधा यस्य सत्वोपध बहुबरी समास तदंतात अनुपसर्जनात् तो अनुपसर्जना की अनुभूति प्रातिपदिक से विकल्प से गी से होती है गीप गीप गीप तकार से नकार आदि सच तो न तकार को न हो जाएगा इसे तो में दो तकार है उपधा तो एक तकार है किसी में एक है तो दो करना जैसे हम धाता तो उपधा तो न या तो न दो तकार ये तो शब्द है ये तो शब्द है चित्र बनवाचक एक तो। ये तो शब्द का स्त्रीलिंग है एक पीठ सूत्र है फिस प्रातिपदिकों को फिट कहते फिट वर्णा नाम तण तीन तांता नाम ऐसे फिट सूत्र है वर्णा नाम तन तीन तांता नाम त न ती नि तो अंत में हो तो यह अंत में क्या है तो है तन तीन तांता नाम आद्यु धातु होता है ये उदात हो जाएगा ए उदात से और एक सूत्र है अनुदातम पदम एक वर्जम एक को छोड़कर बाकी सब अनुदात हो जाएगा तो ए तम त में अनुदात होता है अनुदातांत तो हुआ उपधा में त है और चित्र वर्णवा वर्णवाचक है इसलिए गीप हो गया और तकार को न हो गया विकल्प से तो ए नी एक पक्ष में अन्य पक्ष में टाप हो गया अजाते तो टाप एता बन जाएगा दो रोहित शब्द है लाल रक्त वर्णवाच वो भी वर्ण नाम नितांता नाम से आदि उदात और अनुदातम पद में कबर जम करके सब ही नी दो ही ती ही तो अनुदात हो जाएगा वर्णवाचक है रक्त वर्ण है तो वर्णवाचक तो पद अनुदातांत है तो गीप हो जाएगा और तकार को नकार हो जाएगा रोहित के अकार के ऐसे तो लोप हो जाएगा रोहिणी जिस पक्ष तक न हुआ ये सूत्र लगा विकल्प से होता अन्य पक्ष ताप हो जाएगा रोहिता बन जाएगा तो गुणवचनात् उत गुणवचनात् तीन पदे उदंता उदंताद गुणवाचिन वा सियात उदंत शब्द हो गुणवाचक शब्द से गीस होगा विकल्प से मृत्यु शब्द उकारांत है मृदु गुणवाचक है तो घी से हो गया तो यौन हो गया मृदु अगर ई मृद्वी घी से नहीं गया तो मृदु भी रहेगा ये भी इसलिए प्रयोग होता है बहुवादिभ्य एभ्यो सियात बहुवादि गुण पटित शब्द सिंगी से हो जाएगा विकल्प से बहु सिंगी से हो गया तो यौन हो गया बहुवी सुख हालूंगे आप लोग हो जाता है जब नहीं होगा तो केवल बहु रहेगा दोनों स्त्रीलिंग में क्रीडिकारा दत्ते न क्रीडिकारा कृत जो इकार कृत प्रत्यय इकार कृत प्रत्यय इकार होता है तदंत लेना इकार कृत प्रत्यय जो इकारांत शब्द से गी से हो जाएगा विकल्प से किंतु अक्ति न तीन एक शब्द होता है क्रिया तीन पंचमी तो क्या होगा तीन का नक्तिनित अक्तिन समाज करो अक्तिन क्या होगा अक्तिन अक्तिन तीन इकारांत होने पर भी वहाँ ईश्वर तो नहीं लगेगा अन्यत्र रात्रि शब्द है रास दिव्याम त्रिपेशा सूत्र उनादि सूत्र है रात्रि इकारांत है कृत प्रत्यय होने से विकल्प से हो गया एक पैसे गीत अस्सी चलो वगैरह रात्रि दीर्घ हो गया अनेक पैसे हर्ष रहेगा सो विसर्ग हुआ रात्रि नतीजे से बनेगा सर्वतोक्तिन्नर्थादित्य के पहले तो भारतीय था क्रीन करा तीन को छोड़ करके तीन अर्थ छोड़ कर बाकी जितने इकार कृत हो कृत इकार था किन्तु सर्वतो अक्तिन था सर्वत कौन से कृत प्रत्यांत हो और अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक हो कोई भी हो तीन नहीं तो ए, हो जाएगा अक्तिन अर्थादित्य की वो तो कृत इकार था ये कृत इकार नहीं कृत नहीं और इकार इकार क्या नहीं कोई भी प्रातिपदिक हो इकारांत होना चाहिए कितने दिन प्रत्यंत अवय बिना इकारांत हाँ इकारांत है इकारांत इकारांत शब्द है इकारांत तो शब्द है किंतु ती, तीन से भिन्न इकारांत है तीन का भी निषेध करने से इकारांत शब्द है किंतु वो इकार कृत का हो या नहीं हो <coughs> शकटी शब्द है इकारांत है वो अभित्वन है तो उसमें से भी गीत हो जाएगा एक पक्ष में शकटी शकटी दो बन जाएगा ये दूसरा है इसमें अंतर हुआ पहला था तो कृत इकारांत होना चाहिए और ये जो इकार शब्द कृति का हो या नहीं हो कहीं भी हो योगा आख्यायाम आख्या नाम संज्ञा में पुरुष के योग से स्त्रियों को जैसे पंडित स्त्री को पंडिताइनी कहते हैं पंडित की स्त्री पंडितायनी पंडिताइनी कहने से पढ़ी लिखी होनी चाहिए व्याकरण आदि नहीं पंडिताइनी कह देते हैं इसी प्रकार पुण्य योगा आख्यायाम या पुमाख्या पुयुगा स्त्रियां वर्तते तत्वंगीस पुरुष का नाम है पुयुगा स्त्री में है गीस हो जाएगा गोप से स्त्री गोपालक गाम पाती गोप है आतुन उपसर्ग क हो जाएगा आतुल पिट जाएगा गोप बन जाएगा गोप की स्त्री भले ही कभी कोई गोपालन करे चराए नहीं चराए तो गोप से स्त्री पुयुगा व्याख्यान घी से हो जाएगा ऐसे चलो तो गोपी बन गया और गवान पालक गोपालक पालन करने वाला गोपालक गोपालक हो गया गोपाल भी कहते हैं उसकी स्त्री होगा तो पूर्व व्याख्या आख्या में प्राप्त था कि उसका निषेध करने के लिए ये वार्तिक है पालकांता न क्या न किसका निषेध हुआ गीस नहीं होगा तो पालक सदस्कार तो से अजाद्य तो स्टाप हो जाएगा गोपालक अगर टाप हो गया तापर से दीर्घ हो जाएगा वो पाल का बन गया उसको बाद ये सूत्र लगेगा प्रत्यस्थाद का पूर्व सत इदाप्य सुप कितने बताए बोलो गिनती करो कितने तीन आपने बताए छः सात है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य आगे अत ईद आपी ईद के आगे आपी अशुभ प्रत्यर्थ ककार से पूर्व से प्रत्यर्थात का पूर्व से अत प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व अकार को ईत होगा अत ईत प्रत्यर्थ ककार से पूर्व प्रत्यर्थात का पूर्व से अत पूर्व अ को ई होगा आपी पर में आप चाप टाप डाप कोई आप प्रत्यय हो तो किंतु अशुभ शुभ से पर हो तो नहीं लगेगा अशुभ पंचमी अंतर शुभ से पर में आप होगा तो नहीं लगेगा शुभ से पर में नहीं हो आप चाप डाप कोई आप हो तो प्रत्यर्थ ककार से पूर्व अकार कोई हो जाएगा प्रत्यर्थात का आकार से एकार स्याद स आप अशुभ स आप सुप परो न चेत प्रत्यय में स्थित अकार से पूर्व अकार को एक हो एक करेगा स्थानीय अकार अकार कैसे होना चाहिए प्रत्ययस्थ अकार के पूर्व होना चाहिए आदेश क्या होगा ई अकार से इकार इत निमित्त है आप ही पर आप हो तो किंतु अशुभ हो सो आप सुप पर नचित सबसे पर नहीं लगेगा अभी उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा <clears throat> गोपालक पालक पाल धातु है नूल त्रिचय से नूल प्रत्यय होकर के युवरना करके पालक बनता है तो गोपाल गोपाल अच्छा गोपाल करके क्या है पालय थे गोपाल अजात पचास यश कर दिया नहीं कर्मणियन कर दिया गोपाल उसके बाद स्वार्थ में कौन हो जाएगा ठीक है स्वार्थ में कौन तो प्रत्यय में स्थित हकार से पहले पाल के हकार भी हो जाएगा पाल को क्या अजात तो स्टाफ हो गया यहाँ तो पालक का अंतर न करके निषेध हो गया पुंज हो गया था में नहीं लगा ताप होने से आकार के कल गोपाल तो क्या घटाप हुआ स्वाद उत्पत्ति तो स्त्री प्रत्यय होने के बाद होती है सार्थिक है प्रतिपति प्रतिपदिका स्त्रियाम ये सब स्त्री प्रत्यय आता है उसके बाद स्वाद उत्पत्ति सोजस आते हैं इसलिए सोच से पर नहीं है नहीं उनसे पहले अल्लाह के अकार के ही हो गया जो गा गोपाल साथ में कौन करके हुआ गोपाल तो ये हो गया लौ के अकार भी हो गया गोपालिका बन गया इसी प्रकार अश्वम पालयती अश्व कर्मणी अनुसार होकर अश्वपाल बन जाएगा अश्वपाल से सार्थी का कर्म करना सार्थी कर्म करने से सुख बीच में नहीं आएगा अत्यंत सात्विक कर्ण कहने अश्वपाल का टाप हो जाएगा अदालत प्रत्यक्ष का पालक के अकार की अश्वपालिका सर्व शब्द है अव्य सर्वनाम नाम अकुच प्राकट है सर्व क सर्व में अकल करो अकच करो मिला दो सर्व क सर्व क शब्द से टाप हो जाए अजादे तस्टाप प्रत्यक्षात का से इकार हो गया सर्विका कारक है क्रीदात से नूल करो नूल त्रिचो विवरण उसे करे के कारक अचुण अचुण से वृद्धि होती है कारक अकारांत होने से अजात स्टाप होने से प्रत्यस्थात का पुरुषात लग जाएगा अकार भी का बन गया अतः किम नौ से स्वार्थ में कौन क्या कहो कह तो प्रत्यस्थात का पुरुष पर में नहीं सब ठीक है किंतु पहले अ हो तो इसको ये होगा कह के पहले अ है ऐसे ये नहीं नौका ऐसे रहा प्रत्यस्थात किम सक्रिय सत्व धातु है नंदी के प्रचादी सूत्र से प्रचादी अच करो शक बन जाएगा शक्रो तो शक जो कर सकता है तो शक में क तो है उसके पहले अ भी है आगे स्त्री कोई कर सकती है तो टाप हुआ सब कुछ है किंतु प्रत्यर्थ नहीं है शक्ली शक तो शक के क है धातु का ककार प्रत्यय का है तो प्रत्यस्थ नहीं मिला कत है ताप है सुपर तो में नहीं सब कुछ है प्रत्यस्थ नहीं होते स भी नहीं हुआ अशुभ किम बहु परिव्राजका नगरी बहव परिव्राजका यश्याम नगरियाम बहु जस परिव्राजक जस अनेक मन्य पदार्थ समास हो गया बहु परिव्राजक नगर स्त्रीलिंग टाप हुआ जाते तो टाप टाप करने के बाद परिव्राजक शब्द में तो ब्रजधात से नूल होकर परिव्राजक बनता है प्रत्यस्त ककार है प्रत्यस्थात का पुरुष आप का पुरुष आत ज में अ है अ तो ये होना चाहिए पर में आप है का है किंतु बहु जस परिव्राज के जस में सुख उत्पत्ति होने के बाद समास हुआ सुपधातु प्रातिपदिक से लोप होने के बाद भी तो प्रत्यय पे प्रत्यय मान कर बीच में सुप रह गया सुप व्यवधान हो गया सुख से पर आ गया सुख से पर आने से यहाँ नहीं लगा सूत्र बहु जस परिव्राज के जस में जस आया था सुपधातु लोप उसके आगे टाप हुआ बहु परिव्राजक गाड़ी जो टाप आएगा उसके पहले सुख होने से यहाँ तो नहीं लगा तो इसे बहुपारिव्राज का बना सूर्या देवतायाम चा वाच्य सूर्य से देवता अर्थ में स्त्री अर्थ में पूर्व का है सूर्य से स्त्री देवता से चाप हो गया सूर्य चाप सब देखो सूर्या बन जाएगा और सुख हल गया लोप हो जाता है देवताएं किम सूर्य सूर्य सूर्यागत्यो छेचंग्याच सूर्यागस्त्योश सूर्य और अगस्त आगस्त्य शब्द है छ पर हो गी पर हो तो ये लोप हो जाएगा सूर्य से घी हो गया घी से हो गया ये हो गया हम तो घी होने पर सूर्य के अकार का लोप हो गया यह का लोप हो जाता है अच्छा ये सूत्र है ये सूत्र स्वरूप होता है घी पर होते तो य लोप हुआ सूर्य के य लोप हो गया सूर्य हो जाएगा घी का मिल जाएगा सूर्य बन गया ये पुण्य होगा व्याख्या मसूर्य से सूर्य हुआ यहाँ देवता नहीं होने से सूर्य देवता में चाप वार्तिक नहीं लगा सूर्य बन गया सूर्य कुंती ये मनुष्य मानुषी मनुष्य से ये मेरे मानुषी सूर्य कुंती सूर्य की पत्नी सूर्य कुंती है बताने Oh नवपञ्चवारम्